हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तु ने बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जिंदगी भर के लिए कोई हदिया किया हो तो जिंदगी और मौत दोनों सूरतों में उसका है जिसको दिया गया है और रुकबा का हदिया ना किया करो जिसने कोई चीज इस अंदाज में दी हो तो उसका रास्ता वही है यानी जिसको दे दी हो उसी की विरासत में जाएगी सुनने अबू दावूद हदीस नंबर तीन हजार पांच सौ उनसठ